और लीजिए अगली आइटम आपके सामने पेश है ये है सितार वादन तो आपके सामने ये बच्चे जो सितार वादन पेश करेंगे जुगलबंदी ये उस्ताद गुरदेव सिंह के शागिर्द हैं ज्ञान सिंह जी विरदी और मिस सुजान पनेसर और तबले पे बहुत बड़े कलाकार चंद्रमोहन जी यमन कल्याण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे आप इन तीनों का स्वागत कीजिए